और हमने इसी तरह मुजरिम लोगों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने के लिए काफी है